खड़ा हो गया इधर सर्व वर्षों के निश्चित श्रम ने विज्ञान की बड़ी उन्नति के शिखर स्पष्ट कर दिए जीत लिए लेकिन आप जन्म की वही है शायद आज की पीड़ा और भी जरूर होगी इसलिए पीड़ा और नहीं कि शायद बाहर के जगत में हमारी खोज हमारा ज्ञान हमारी समृद्धि उस आग को बुझा लेगी और वो भी मुश्किल होगी अगर वो आस्था भी टूट गई तीव्रतम संभावी विकास हुआ है मेरे मनुष्य भीतर और भीतर भीतर होने लगा क्योंकि बाहर इतना विकास हुआ है और भीतर मनुष्य वही कर रहा है और वो दोनों हाँ, में बड़े घातक परिणाम आने शुरू हुए पिछले थोड़े से वर्षों में दो हुए और दो मृत्यु को दस करोड़ लोगों के अंदर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 ज्यादा दुख ज्यादा से ज्यादा मृत्यु मान कैसे सफल हो सकते हैं ये हराम की बात है जरूर भी मनुष्य कैसे तो कुछ रुग्ण होगा बीमार होगा विक्षिप्त होगा अन्यथा मृत्यु को जानने की आयोजन और दुर्जन नहीं हो सकता बहुत परेशान हो गया कि मनुष्य को क्या हुआ जा रहा है और मनुष्य कैसे आत्ममुक्ति प्रयास को संबंध है इसकी मुझे चिंता नहीं होगी और उसमें तीन बड़े राष्ट्रों को अपने पास बुलाया था इंग्लैंड को रूस को और अमेरिका को इतना बुलाता है उस वक्त इंग्लैंड में ताकत नहीं होगी जब उसे मिला और उन तीनों प्रकरणों से कहा कि हम बहुत हैरान थे तुम्हारी सारी शक्ति मनुष्य की हत्या की और नियोजित हो गई और गर्भ वास्तव में तुम पूरे उस को समाप्त कर दो बल्कि हो सकता है पूरे प्राणी जगत को समाप्त कर दो इस भय से भयभीत होकर मैं खुद ही तुम्हारी माता की हूँ और प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने जो वरदान मांगो तुम्हारी जो कामना है वो पूरी हो जाए ताकि जीवन बच सके तुम क्या करते हो आपके इस दौर के पीछे इरादे क्या है अमरीका के प्रभुओं ने कहा कि हे परमात्मा हमारी बड़ी बड़ी आकांक्षा है बड़ी छोटी आकांक्षा है पूरी हो जाए तो निश्चित हो जाए हमारी समय पत्र बंद हो जाए ईश्वर ने कहो तुम कहो मैं पूरा करूंगा शायद उसको भी कल्पना तो उस प्रकृति में कहा कि बेटा की इच्छा पूरी दुनिया को लेकिन उन्होंने कोई निशान न फिर हम तो सब शांति करें एक ही कठिनाई जीवन गुजर गया मुझे बहुत वरदान भी नहीं पुराने में कठिनाई है लेकिन तो ऐसा कोई वरदान नहीं वो बहुत हैरान हुआ उसने रूस के प्रभाव में उन्होंने रूस के प्रति नेता उन्होंने कहा या हो सकता है हो कामिल मुझे पता नहीं हो सकता है हो कामिल कहा उन्होंने एक तो हमने ये बात नहीं कि आप आपको निकाल के निकाल कर और मैं देखता हूँ कि कोई बुरा नहीं कोई ये नहीं चला सकते हैं कोई गुण नहीं चला सकते हम आपके धर्म से बहुत दिन में मुक्त हो गए लेकिन फिर हम बुरावट की पूजा शुरू कर सकते हैं और स्वीकार कर लेंगे कि आप हो और स्वीकार कर लेंगे तो आप बंद करके जो जरूर आप कहोगे लेकिन छोटी सी आकांक्षा हमारी पूरी हो जाए तो प्रमाण बन जाए आपके होने हम मच्छर हो जाते हैं लेकिन उंगलिका के लिए कोई रंग नहीं चाहते दोनों परीक्षा हो उंगलिका के लिए कोई रंग रह जाए ईश्वर ने बहुत गुणों को गुटन की तरफ देखा गुटन को गुटन ने जो कहा वो मन में रखने में देखा है उसने कहा कि यह परमिका हमारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं इन दोनों की आकांक्षा एक साथ पूरी हो जाए हमारे आकांक्षा ऐसी स्थिति हो और लेकिन ये स्थिति छोटी ऐसा ही हमारे मनोर चल रहा है ऐसे ही विमर्श को हम सोचे और इसमें कोई मृत्यु अनुसूचित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 की खोज अपने आप में घातक सिद्ध हो गई लेकिन मनुष्य का मन कुछ एक्सट्रीम्स में कुछ अधीन मन होता है जिसे हम जिन्होंने इसी तरह अतिशय इसी तरह धर्म की भी खोज की और धर्म अकेला भी घातक हो जाता है कोई लोग सोचे कि तो धर्म अकेला भी घातक सिद्ध हो जाता है इसलिए धर्म कोई आघातक सिद्ध जाता है भीतर शांति तो बढ़ती है लेकिन बाहर अशक्ति कमजोरी दीनता और दरिद्रता का राज्य होता है और अब तक दुनिया में उनमें से कोई संस्कृति इतनी पूर्ण नहीं कि उसमें भीतर और बाहर के बीच एक संतुलन और समन्वय खोज लिया है या तो पूरे के का इस भोग में के लिए और पास हो गए कि पश्चिम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 सम्मेलन दोनों के एक अद्भुत संतुलन दोनों के एक अद्भुत कीमत अद्भुत इकाई है इसलिए उसका जीवन और उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता यदि किसी एक को चुनाव करेगी तो भटक जाएंगे अब तक मनुष्य चाहेंगे सभी सभ्यताएं बढ़ती हुई सभ्यता नहीं वो सभी एक कहानी एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती रोम में एक बादशाह बीमार पर वो बहुत बीमार था बहुत वर्ष उसकी चिकित्सा हुई दूर दूर से दर्द बुलाए गए चिकित्सक बुलाए गए उनको ठीक नहीं हो सकता कुछ बीमारी समझ में आए बीमारी समझ में आए सिर्फ तो कि मानव से तो कम से कम होना चाहिए करता है हर आदमी आंखें खोलो उसमें गंभीर भी करो जरूर करो क्योंकि तो श्वास का कोई भरोसा नहीं कि जो बात हो जाती है वो भीतर तो लौटे न लौटे तो मैं को ले रहा को कारण की तो बड़ी बीमारी नहीं है और इसलिए चिकित्सक अस्थल गए तो बीमारी थी नहीं तो वो बीमारी खोज कैसे पाते हैं और उन्होंने इसका तो बड़ा सीधा सा इलाज है राजा की महिमा से पड़ा था उसके बैठ गया और उसने कहा कौन सा इलाज उस फकीर में था बड़ा सीधा और सरल इस बड़ी राजधानी में जाओ और किसी ऐसे आदमी को वस्त्र ले आओ जो सुखी भी हो और समृद्ध भी और उसके भरोसे के तो करना बच्चे रात बीच के स्वस्थ हो जाए वही मैं तो खुशी तो तो से मैं और तो बड़ी खुशी की बात थी बिना आसान था मुझे आगे किसी ऐसे आदमी को सुखी भी हो और समृद्ध भी लेकिन जैसे जैसे जीवन में हो गए हर भवन से लौट लौट उनकी निराशा बढ़ती गई जिस में के लिए लेकिन मेरे वक्त कारगर नहीं हो गए संपत्ति तो मेरे पास है लेकिन सुख सुख से मैं अपरिचित धन मेरे पास है शक्ति लेकिन लेकिन सुख मैं कहीं जाना कहीं काम करता हूँ सपने देखता हूँ उसे कारण नहीं है हर भजन से लौट के वक्त होते गए हो गई सूरज गया और वो करते हुए उन्होंने कि का बचना तो मुश्किल पड़ता है हम तो उनके सामने जो लोग दौड़ था अंदर तो मुश्किल समझ तो था कि नहीं हो सकेगा क्योंकि जब राजा के भोजी भी किसी और के कपड़े नहीं जा रहे थे तब उनको शक हो गया जब उन्होंने दूसरों से कपड़े मांगने में तो हमको निश्चित हो गया था कि ये लाभ छोड़ो जाकर मरे किस मुफ्त राजा के पास चले तो सूर्य अंधेरा हो जाए सूर्य ढल गया तो चले सूर्य ढले वे राजमहल की तरफ चले राजमहल के पीछे की नदी बहती थी और वही उन्होंने बांसुरी की आवाज सुनी दोनों नदी को उस पार के पत्थर को बैठ के बांसुरी बजाता था उसको में कुछ ऐसा जागरण कुछ ऐसा आनंद था कुछ ऐसे सुख की गंध थी उन्होंने तो सोचा आनंद प्रकार का अवतरण हो सकता है यह आदमी सुखी हो इसके स्वर्ग में आनंद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 और सुंदर की दोनों को अपने भीतर समेटते हैं या तो आंतरिक शांति की खोज होती है तो बाहर से दरिद्र और दूर नहीं हो जाता है तो शायद और हुआ है और या तो समृद्धि की खोज होती है और सुख क्षेत्र हो जाता है सुख के सब तंत्र जाते हैं ये इसलिए हुआ है कि बाहर और भीतर को की तरह देखा ये इसलिए हुआ है कि आत्मा को शत्रु की तरह देखा ये इसलिए हुआ है कि हमने सुख की खोज को अपूर्ण खोज नहीं जाना और मनुष्य पीढ़ी में तो हमने संत दृष्टिकोण में करके देखा हम मनुष्य की अखंड और पूरी इकाई को आज तक स्वीकार नहीं किया जो लोग मनुष्य को शरीर मानते स्वीकार करते हैं वे उसकी आत्मा को निकाल कर देते हैं और जो लोग उसकी आत्मा की बातें करते हैं वे स्वरूप शरीर को जान अनजान सफल हो सकते हैं एक ऐसी संस्कृति चाहिए जो मनुष्य के अंतर और बाहर के बीच सेतु बने उन दोनों को जोड़ सके तो वस्तुता के दोनों जुड़े थे तो मृत्यु तो को धार्मिक संस्कृति चाहिए क्योंकि वो भी एक पक्ष है और एक अति और उनको एक विज्ञान संस्कृति चाहिए क्योंकि वो भी एक दूसरी अति पर हो एक ऐसी संस्कृति चाहिए जो मनुष्य की अखंड प्रकृति को स्वीकार करे और उस अपनी प्रकृति को आनंद के सामने गतिमान कर सके स्मरण रहे मनुष्य के आत्मा की कोई भी खोज शरीर के आधार के बिना संभव नहीं समुद्र रहा है उसने सारे लोगों से मिला ली और जो उठा हुआ है तो लोगों ने सोचा शायद वह परमात्मा को बलिदान देगा लेकिन उसमें क्या रहा उसमें करेंगे प्यार के बीच मैंने मुझे बहुत सताया और बहुत परेशान किया और मैं पता ही समझा कि तुम रह सकती है और आज जब मेरी आंखें खुली है और मेरे हृदय में दिया जला है तो मैं तुम्हें तो कह रहा हूँ कि तुम्हें अंदर मेरा साथ था मेरा शत्रु नहीं और तुम्हें हर सुख भी मेरे साथ साथ भी है और मैंने तो तुझे बताया हूँ और परेशान किया और तुम तो मेरा ही था और जिस हम समझता है हम तेरी बिचड़ी को चले गए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 में ले गए छोटे छोटे कार्यों को घेर ले गए एक एक कन्या की मनोता ले गए और सारी मनुष्यता का विज्ञान खड़ा हो चुका अभी सारी मनुष्यता का धर्म ग्रहण हो चुका है इसलिए धर्म को आ रहा है इसलिए कि धर्म कम ताकत की चीज है बल्कि धर्म का खेलो आपस में बटा हुआ और आपस में लड़ रहा है और ये हिंदू और मुसलमान और ईसाई और जैन और बौद्ध जब आपस में लड़ते हैं तो स्वभाव धर्म की शक्ति तो आपस में लड़ने में जरूरत हो जाती है और अधर्म की शक्ति अपने आप बड़ी हो उठती है विज्ञान के ऊपर कसूर नहीं है कसूर में तो धार्मिक लोगों के ऊपर ही है इस समय जिसका चित्त भी थोड़ा धार्मिक है उसके सामने पहली बात उठेगी है ठीक ठीक अर्थ में होने है धार्मिक है तो वो हिंदू और मुसलमान होने से मुक्त हो जाए क्योंकि दुनिया इन गुनाहों के कारण धर्म का जन्म नहीं हो पाया कोई तीन सौ फीट कोई तीन सौ सोलह का और ये सब एक दूसरे के विरोध में दो सौ निन्यानवे में प्रत्येक एक के विरोध में खड़े उनकी सारी ताकत आपस में लड़की है और समाप्त हो जाती है धर्म भी वैसे भी एक शक्ति है जिससे विज्ञान और धर्म की शक्ति भी वैसे ही यूनिवर्सल है वैसे ही सार्वलौक जैसे विज्ञान के लेकिन हम चूंकि अपने धर्म के जगत में बहुत पक्षपातपूर्ण है और मैं धर्म के संबंध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 लोग कैसे थे जिसको तुम छोड़ कर आ गए उस आदमी ने कहा उन लोगों का नाम भी लेकर मेरी आंखों में आग जरूर रहती है मेरे की है उन जैसे उनके से दुष्लोक रोहित संभव उस गुरु में कारण इसलिए मैंने पूछा है के लोग तो और भी बुरे मैं तो कोई सत्तर वर्ष से उनके बीच हूँ तुम तो और गाँव खोज लो जिस गांव को तुम छोड़ के आ रहे हो उस गांव को तुम बुरे लोग तुम नहीं हो पाओगे तो आप दूसरे गए और वो जागरूक नहीं आया है दूसरे पीछे और बन जाने आते रुकी कोई और यात्री और उनको गुरु और उनको चाहते हैं जाना चाहते हैं उस गुरु ने कहा मुझे ये बताओ मुझे गाँव से तुम आते हो लोग कैसे उस आदमी के आंखें खुशी से भर गए और आंखों खुशी के से आ गए और उसके बाद उन्होंने याद तो बड़ी से भर रहती है उतने बड़े लोग पृथ्वी में कठिन तो दुर्भाग्य हुए हैं कुछ मजबूर होंगे उस गाँव को छोड़ना पड़ा लेकिन मेरी आशा लेकर आया हूँ कि आज मैं कल गुरु गाँव में जाकर बस जाऊंगा उतना प्यार लोग खुद नहीं उस गुरु ने कहा तुम्हारा स्वागत है मैं सत्तर वर्ष इस गाँव में रहता हूँ इस गाँव के लोग तुम इस गाँव से भी अच्छे पाओगे जीवन को देखने की एक दृष्टि यदि आनंद पूर्ण हो तो बाहर सब आनंद पूर्ण और जीवन की देखने की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 बन जाएगी प्रश्न बिल्कुल ये नहीं है कि दामों को गुरु रहती में बहुत गहरे प्रश्न नहीं है कि भीतर मनुष्य कह रहा है दूसरे अगर हमारे चीजों को देखने के दृष्टिकोण वस्तु है तो दामों की में तुम रहे और अब तक दुनिया के प्रश्न कथित धर्मों अगर हम ठीक से देखें तो बाहर की दुनिया के दुख को अपने जुर्म मैंने तुझसे है इसलिए तुम्हें मोक्ष की खोज करो वरना सब आनंद हो ये झूठी और नामुची की बात है इतनी की बात है कि इस झांकी वे बाहर की दुनिया को अति बल देते हैं और भीतर के मनुष्य को भूल जाते हैं क्योंकि यही दुनिया कुछ लोगों की अपूर्ण आनंद की खोज बन जाती है तो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 हर स्वर पर मोक्ष की नजरों में समर्थ हो जाता है उसको मैं धार्मिक व्यक्ति कहता हूँ वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है जो मोक्ष की शोध करता है कभी तो कभी तो गुरु आकाश में वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है कि जन्म मरण के सवाल मोक्ष की खोज करता है वही व्यक्ति धार्मिक है जो अपने भीतर इसी ध्वनि और ही मोक्ष को पाने में समर्थ है तो मोक्ष को तो पाने में हालत है कि उसके देखने के जीवन को देखने की दृष्टि बदल गई दो फकीर जापान में एक संध्या अपने झोंक लेकर वापस लौट गए वर्षा के दिन आ गए हैं और बाल आकाश में गिर गए हैं और आज नहीं कल पानी गिरेगा वे दोनों बहुत दूर से यात्रा करते हैं और वर्षा के भय से वर्षा के डर उधर पहुंचे उन्होंने झोंक रखकर में आ रहे थे लेकिन जैसे ही झोंक के तो पास पहुंचे खुले को डर गए फिर उसे एक तो बोला कि परमात्मा इसलिए उनको शक आ जाता है ये क्या किया उन्होंने हवाओं में झोंकने के आगे छत पर उड़ा लिया उनसे पत्नी ने कहा इसी से शक आ जाता है तुम्हारे को राम पापियों को लोगों में मार पड़े और ये बड़ी छोटियों से छोटा मैं तुमको मार करूंगा अगर हमारे को भी जो आजमाइश करनी थी तो किसी महत्व तो कर थी और अगर तुम्हारे इन चीजों को तोड़ने का हो गया था तो तुम बड़ा मोह तोड़ सकते कि गरीबों की झोपड़ी को तोड़ने में तुम्हें शर्म नहीं आए तो उसने अपने दूसरे फकीर से कहा देखते हो लेकिन दूसरे की तरफ देखते हो आराम हो गया वो दूर सफर के लोग निकले के हाथ जोड़े आकाश की तरफ गया है उसकी आंखों से आनंद से आंसू बह जाते वो हैरान हुआ उसने क्या करते हो उसने कहा तो मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ गरीब है उसकी कृपा और अनुकंपा नहीं तो हवाओं का क्या भरोसा पूरा योगदान में उड़ा जा सकती उन्होंने आधा छप्पर छोड़ दिया आनंद का कौन सा विश्वास पूरे छप्पर को भी ले जा सकती लेकिन आज उसको छोड़ दिया तो मेरा धन्यवाद दिए बैठे उसकी कृपा उसकी अनुकंपा बड़ी है और वहां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 धर्म की जो मौलिक क्रांति है मनुष्य के नाम है उसको विचार करना चाहिए उसको खोज ले चाहिए और देखना चाहिए इससे नहीं कि आप लोग भूल जाते हैं रिश्तेदारों में जिसको भी धोखा देना होता है धार्मिक होने का वो जा सकता है उसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है इससे नहीं कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं हो सकता है आप लोगों को लगा दें इससे कोई तो धार्मिक होने का संबंध नहीं है हो सकता है आप लोग सुबह में सकते हो इससे क्रियाक्रम धार्मिक होने का संबंध नहीं है धार्मिक होने का संबंध है प्रतिक्षण जीवन को आप कैसा लेते एक आनंद की भांति या एक दुख की भांति जीवन जब आपके सामने प्रकट होता है वो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 उनको हम धार्मिक करते हैं उदास सौ गंभीर नहीं वे रुक थे उदास और गंभीर व्यक्ति रुक थे आनंद और प्रसन्न और उनके शांति के बीच से गुण गए हो और किसी संगीत से चीन में तीन पके हुए उनका नाम भी थ्री लॉक इन चेंज हो गया तीन वस्तुएं पकी फिर जिस गांव में गए उस गांव में उन्होंने कोई देख दिया उस गांव के चौक को बखरे हुए रस रखते हुए रहे और तीनों लोग समझते और उनके नकली ऐसे लोग और ऐसे हम की सारे गाँव में एक लहर फैला दी और जिस दिन तक वे उस गांव में रहते हैं उस गांव में वो हंसते रहते हैं और उस हंसी में वे कुछ जान पाते हैं जीवन को गंभीरता से लेता है वो जान नहीं पाता जीवन को तो बच्चों की सरलता से और आनंद से लेता है वही जानता उनसे तो मरा तो गांव के लोगों ने कहा कि अब तो निश्चित ही उसके को उदास हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे लेकिन भगवान की सुबह में आपको ये गाँव मिली और लोगों ने मुझसे पूछा कि आज तुम रोटी हो और एक कमा तो मैंने कहा वो एक तो बहुत बलशाली है वो हमसे पहले दो गया था और गया और हम उसको मोरच के और गीत गा के पूरा लेने की तरह नहीं कर रहे थे क्योंकि एक किसान इतने आनंद क्षण बिताए उसे उदास और आंसू भरी आंखों से विदा देना मित्रता के प्रति घात होगा नाच के और गीत गा के तैयारी कर रहे हैं उसके हंसते हंसते उल्टा भी और मर गया था उसने सोचा कि जब मैं लोग बहुत प्रेम करते हैं उनको के तो बहुत दुखी हो जाएंगे और उन्हें सुनना होगा कि उनके दुख में मैं तो उसने अपने सांसों से कहा कि तुम मेरे वस्त्र में उतारना मैं तो इन वस्तुओं में रहूं उन वस्तुओं में भी किताब चला गई अंत में उसकी इच्छा थी तो, तो वैसा ही किया गया गौरव और उदास था वे दोनों के तमाम अनुमोदित करते हुए मरण कर गए लेकिन गौरव और उदास था लेकिन फिर जैसे ही उसकी लाश चिता हो रखी हुई धीरे धीरे हंसी फैलने लगी और उस कब्र के उस चिता के आस पास इकट्ठे लोग और नाचने लगे क्या हुआ उस मुर्दे रूप की रूप अपने कपड़ों में कुंधड़े और हटाकर छिपा रखे वो खूब रहे छिपाकर और मैं उसको लग गया और उसने कहा कि वो मन जन्म के लिए घुसा रहा है धार्मिक व्यक्ति वो है जो आनंद से जीता है और आनंद से लड़ता है और जो आदमी आनंद से जीने का रस पा जाता है मृत्यु भी उसे आनंद कर सकती है क्योंकि मृत्यु उसे परमात्मा से मिलन का अर्थ ले लेती है उन जीरो से विदाई नहीं होती परम जीवन से मिलन हो सकता है धार्मिक व्यक्ति में उसे कानून में प्रशिक्षण का प्रतिक्षण आनंद में जीवन की खोज में हो लेकिन उन सारे लोगों को धारण नहीं देता जो वस्त्र बदल लेते हैं घर बदल लेते हैं गांव छोड़ देते हैं परिवार छोड़ देते हैं और किसी दूर गांव में मोक्ष की पीड़ा को किसी दूसरे में मोक्ष की कामना में पीड़ित और परेशान होते हैं तो ये तो सब लोग ही लोग हैं उनकी तृप्ति लोग की तृप्ति संसार के लोगों के लिए मोक्ष चाहते हैं ये तो अत्यंत काम लोग हैं उनकी तृप्ति संसार के क्षण सुखों से नहीं होती तो ये स्थायी सुख चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी खंडित ना हो ऐसा मोक्ष चाहते हैं जो कभी मिटे नहीं इंद्रियों के जीवन की छोटी छोटी चीजों में लोग कोई खुशी नहीं है ये सिर्फ परमात्मा को पाना चाहते हैं उसी को पाते हुए खुश हो सकते हैं लेकिन मैं निवेदन करूंगी जिसमें जीवन के छोटे खिलौने छोटे छोटे गुणों में खुशी नहीं पाए वो परमात्मा से मुझे भी खुश नहीं हो सके और जिस व्यक्ति ने जीवन के क्षुद्रतम प्रवाह में छोटी छोटी बूंद होगी आनंद की सुलभ नहीं होती वह अगर मोक्ष में पहुंच जाए तो आनंद नहीं हो सकेगा सुन नहीं लगेगा और उसके देखने की दृष्टि नहीं रहेगी उसके देखने का कौन नहीं रहेगा चीजों को समझने की वृद्धि नहीं रहेगी उसे मोक्ष में बिठा देने पर भी वो मोक्ष से मुक्त होने की किसी साधना में लग जाएगा जो मुक्त होने की कोशिश में लगा है वो मोक्ष में विलीन होने की कोशिश में लग जाएगा धर्म का संबंध मुक्त होने से कम जीवन को उसकी पूरी गहराई में जीवन से ज्यादा इस मुक्ति की आकांक्षा ने जीवन को उसकी पूरी गहराई में जीने का मुक्त कर दिया है और क्योंकि धर्म के कल पर हमारा कोई जीवन नहीं है सिर्फ सीधा विज्ञान कर गया और शरीर का जीवन कर गया तो मैं निवेदन करता हूँ जिसे हम आमतौर से जीवन जानते हैं उससे बड़ा जीवन हमारे करते और इसी जीवन में जो सुख को खोज रहा वो वस्तु है उसमें थोड़ा भीतर अपने व्यक्तित्व को वैसे सृजन से वैसी सृजनशीलता से गुजारना होगा जहाँ वो और बड़े आनंदों को देखने में संभव हो जाए जहाँ पत्थर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 हो जब भी तुम करती हो कागज करती हो ये क्या अगर सुई भीतर खोई है तो रोशनी भीतर ले जानी पड़ेगी बजाय रोशनी खोजा जाए कितने में तो रात या और उसने समझाने को सूर्य को जिंदगी मेरी कोई सूर्य कोई भी हो मैं तो आदमी के तुमने बाहर खोजा और कोई भी नहीं पूछता कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं क्या वो बाहर खोला लेकिन रोशनी बाहर है बाहर तो, कान बाहर सुनते सब मानी बाहर की तरफ रोशनी देखती है इसलिए बाहर खोजते बिना इस बात को जाने से खोया करो समझदार व्यक्ति मोहदार तो सबसे पहले पूछिए कि मुझे थोड़ा कौन मैंने क्या कर और अगर इस कानून करना मिले तो भी यही उचित और बड़े तुम पहले पृथ्वीकरण को नहीं कर जाए तो कम से कम अपने भीतर का निखोज ले अगर हम न पा सके तो फिर बात खोज में निकल जाए अनुभव मेरे मेरे जीवन को भीतर खोजना उन्होंने पा लिया एक व्यक्ति में मनुष्य के पूरे आंखों नहीं मिल रहा है कि मैंने भीतर खो जाओ मुझे नहीं मिल रहा और एक भी व्यक्ति ने यह भी नहीं कहा कि मैंने बाहर खो जाओ मुझे मिल गया बाहर की खोज मृत बाहर रूप से असफल हुई है भीतर की खोज मृत बाहर रूप से सफल रही है भीतर कौन है इसकी खोज को उतरना करते हैं भीतर क्या है इसकी तरफ आंखें खोल करते कैसे वो आंखें खोल सकती है उसकी मैं कल की चर्चा में आपसे बात करूंगा अभी तो मैंने आपसे दो बातें करूंगा कैसे आंख खुल सकती है भीतर के सत्य के प्रति कैसे वहां प्रकाश पहुंच सकता है उसकी मैं कल आपसे बात करूंगा कि चाहे शास्त्र पुष्प है चाहे सदुगुण पुष्प है जब तक खुद की आम को जाए तब तक धर्म का कोई अनुभव नहीं हो विज्ञान के साथ एक सुविधा है विज्ञान एक ट्रेडिशन है एक परंपरा विज्ञान वैज्ञानिक अनुभव है बिजली कर रही है तुम्हें कुछ भी पता नहीं कैसे चल रहे हैं लेकिन हम बटन लगाते हैं और चल जाती है कोई जानता होगा लेकिन हमें तो उस बाबा की जानने की जरूरत नहीं होगी विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को जानने का मिले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 इकट्ठे न हो शैतान को खबर उसके मित्रों को खबर और उसके बहुत मित्र सब तरफ उसके अखबार वाले और उसके पत्रकार और उसके लोग एजेंसी उन्होंने शैतान को खबर दी तो एक आदमी को सबके ऊपर दिया जा रहा है शैतान अपने साथियों को लेकर भागा रास्ते में उसके आगे और मित्रों ने खबर दी जब है उसको सबके ऊपर तो हो गया शैतान मतलब जल्दी जाओ गांव में खबर कर दो गांव गांव में दो भोगी पर खबर कर दो मुसलमान में तो सब उपलब्ध हो गया ताकि लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए और लोगों में ऐसा जो घर घरों में संकित हो गए बस वो संकित हुए सत्य मर जाए जाएगा क्योंकि शब्द तो लिखित है और जो संकित खड़ा हुआ गांव को धरो शैतान परेशान नहीं हुआ उसको गांव में खबर कर दी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने संकित बना लिया और संतन के भीतर वो सत्य का दिया गया संतुलित हो गया सभी संगठनों ने सत्य की हत्या की है धर्म से उसका ऑर्गेनाइजेशन से समूह से संगठन से कोई बात होने उसका तो प्रत्येक व्यक्ति की उसकी निजी चरित्र में उतरने की बात कर और वे आंखें कैसे उस सत्य की तरफ उठ जाए उसने कल आपसे बात करूंगा मेरी बातों को अपनी शांति और प्रेम से सुना उससे बहुत बहुत अनुभवी हो परमात्मा विज्ञान ने सबको सहज ही खड़ा कर दिया है इसमें तो तीर हुए सभी को धर्म में खड़ा कर सके इसकी प्रार्थना करता सब भीतर बैठे परमात्मा अपने मन को स्वीकार